जगदम्बे दयाल भई आंगन मोरे हुए सी गौरी मैया दयाल भई आंगन मोरे हुए सी अम्बे मैया दयाल भई अंगन मोरे हुए सी मैया के हाथ सोने का सिंदोरा मैया के हाथ सोने का सिंधोरा मांग मोरी भर के गई आंगन मोरे होए निकसी मैया मांग मोरी भर के गई आंगन मोरे होए निकसी जगदम्बे दयाल भई आंगन मोरे होए निकसी मैया के हाथ लाल लाल चूड़िया मैया के हाथ लाल लाल चूड़िया मुँह को पहना के गई मैया को पहना के गई आंगन मोरे हुए निकसी जगदम्बे दयाल भई आंगन मोरे हुए निकसी मैया के हाथ लाल लाल चुंदरी मैया के हाथ लाल लाल चुंदरी मुंह को उड़ा के गई मैया मुंह को उड़ा के गई अंगन मोरे होए निकसी जगदम्बे दयाल भई अंगन मोरे होए निकसी मैया के हाथ चांदी के बिछुए मैया के हाथ चांदी की पायल मुंह को पहना के गई वो तो आशीष दे के गई आंगन मोरे हुए निकसी जगदम्बे दयाल भई आंगन मोरे हुए निकसी